और ये कि हम पहले सुनगुन लेने के लिए आसमान की कुछ जगहों पर जा बैठा करते थे लेकिन अब जो कोई सुनना चाहता है वो देखता है कि एक शोला उसकी खात में लगा हुआ है